अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश उसलूबी से नसीहत करके दावत दो और अगर बहस की नौबत आए तो उनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं और उनसे भी खूब वाकिफ है जो राह रास्त पर कायम हैं